नमस्कार मित्रों ये वीडियो है superficial prosperity यानी ऊपर ऊपर छल्ला ऊपरी ऊपरी ऊपरी ऊपरी समृद्धि या विकास और अंदर से पूरा खोखला हो इस तरह का तो हम अक्सर ये पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर में मैगजीन में 1991 के बाद इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये हुआ उसकी वजह से ग्रोथ रेट पहले 4 परसेंट था अब 6 परसेंट हो गया 8 परसेंट हो गया वगैरह तो वो आंकड़े अपने आप में सच है प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले कितने लोगों के पास फोन था कितने लोगों के पास मोबाइल था कितने घरों के में डीवीडी था टीवी था एलसीडी टीवी था या तो रेफ्रिजरेटर था या एयर कंडीशन था या गाड़ियां थी इतनी सारी गाड़ियां भारत में नहीं थी इतने सारे मोटरसाइकिल भारत में नहीं थे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है इसमें कोई डाउट नहीं है कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लो per capita grain consumption per capita milk consumption per capita petrol consumption तो हर एंगल से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो मैं इसे सुपरफिशियल क्यों कह रहा हूं कि एक बहुत सामान्य एग्जाम्पल से शुरू करूं कि देश में पचास करोड़ लोगों के पास मोबाइल है लेकिन कितने मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या तो भारत के इंजीनियरों की कैपेबिलिटी है कि 10 करोड़ मोबाइल भी इस तरह के मैन्युफैक्चर कर सके आज की तारीख में छह महीने में एक साल के अंदर अपने बलबूते पे वो नहीं है मतलब वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे तो एलसीडी इंपोर्ट करेंगे अंदर का जो पीसीबी है वो इंपोर्ट करेंगे चिप्स इंपोर्ट करेंगे पर कहा जाए कि भाई इसमें एक एक चीज इंपोर्ट इंडिया में बनानी है नेचुरल रिसोर्सेस ले लो जितने चाहिए लोहा एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत सिल्वर थोड़ा बहुत गोल्ड जितना चाहिए ले लो और बाकी एक एक चीज यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चर बनानी है और भले फिर ये 1500 2000 का मोबाइल 4000 में बने चलेगा तो वो क्या 40000 में भी 10 करोड़ मोबाइल बना सकते नहीं है वो कैपेबिलिटी नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो टेलीकम्युनिकेशन का विकास है वो खोखला है ऊपरी ऊपरी है सुपरफिशियल है इस तरह से देखो तो सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुबई वहां हर एक आदमी के घर में एयर कंडीशन है कारपेट है बढ़िया घर है उसके पास गाड़ी है वहां पे 3G नेटवर्क भी आ गया शायद अब 4G भी आ गया होगा हर तरह की प्रोस्पेरिटी वहां पे है लेकिन वहां इंजीनियरिंग का ई e भी उनको नहीं आता और हर तरह से वो खोखला है तो तीन चार क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो इस खोखले विकास में प्रॉब्लम क्या है भाई गाड़ी तो है ना मेरे पास कौन बनाता है गाड़ी मुझे क्या फर्क पड़ता है मोबाइल तो है ना बात तो कर सकता हूँ ना क्या फर्क पड़ता है मोबाइल मेड इन जापान है मेड इन इंडिया नहीं है तो जापान वाले बनाते हैं तो चलो उनका यूज करो चाइना वाले बनाते हैं तो मोबाइल उनका यूज करो क्या जरूरत है सब कुछ इंजीनियरिंग इंडिया में लाने की और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि ये प्रॉस्पेरिटी सारी की सारी खोखली है तो सस्टेन कैसे हो रही है एक साल दो साल तीन साल तक चल सकती है यदि बीस साल से हम मोबाइल पिछले पांच दस साल से इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियां इतनी आ रही है आ रही है आ रही है कभी कभी गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसके स्पेयर पार्ट इंडिया में नहीं बन रहे होते इंपोर्टेड होते हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहे होते वरना जो फॉरेन डेट है वो तीन सौ बिलियन का कब का ट्रिलियन ऑफ डॉलर क्रॉस कर गया होता तो एग्जैक्टली ये जो खोखली प्रॉस्पेरिटी है उसका प्रकार क्या है और वो क्यों चल रही है पहले तो खोखली प्रॉस्पेरिटी क्यों डेंजरस है क्यों जानलेवा साबित हो सकती है उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा इराक का इराक 1990 में एक बहुत ही समृद्ध देश था 1989 में 1990 में उस समय हर एक आदमी के घर में टीवी था उस समय टीवी बहुत बड़ी बात थी 1990 की बात कर रहा हूँ हर एक आदमी के पास वीसीआर था उस समय वीसीआर भी बहुत बड़ी बात थी उस समय की बात कर रहा हूँ उस समय ये डीवीडी प्लेयर था ही नहीं वो वीडियो कैसेट होती थी आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी और हर एक के घर एयर कंडीशन था और उस जमाने में एयर कंडीशन बहुत बड़ी बात होती थी लेकिन वहां कुछ बनता नहीं था सब कुछ इंपोर्टेड होता था तो और आज इराक के पास क्या है कि वहां पे एक और 1990 में इराक में नलों में मिनरल वाटर जितना अच्छा पानी आता था और वो पानी सिर्फ वो लोग पीते नहीं थे उस पानी से वो नहाते थे कपड़े धोते थे और घर में झाड़ू पोछा लगाते थे नल में से मिनरल वाटर जितना अच्छा पानी आता था आज इराक की क्या हालत है कि उनको बिजली नहीं है एक भी घर में मतलब 94% घरों में एक दो किलोमीटर चलना पाता है, पड़ता है वहां से गंदा पानी लेके आते हैं घर में फिटकरी से साफ करते हैं जैसे हमारे पूर्वज सौ साल पहले किया करते थे और वो पानी वो पीने के लिए मजबूर है शायद महीने में एक बार नहाने का पानी नसीब होता होगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो समृद्धि उनके पास 1990 में थी 1950 में वहां पे तेल मिलना शुरू हुआ 1950 से धीरे-धीरे समृद्धि बढ़ी 1972 में तेल के दाम बढ़ गए और समृद्धि आसमान छू गई और वहां से लेके 18 साल तक 1990 तक आ, उनकी प्रॉस्पेरिटी रही बाद में गिरावट आती गई और 2004 में अमेरिका ने पूरा इराक हड़प लिया तो मैं कहूंगा 1990 की प्रॉस्पेरिटी क्यों खोखली थी क्योंकि वो कुछ सामान बनाते नहीं थे और उसकी वजह से हथियार नहीं बनाते थे मैं किस समृद्धि को 100 परसेंट या तो 90 परसेंट खोखली मानता हूं खोखला मानता हूं कि जो देश में समृद्धि है लेकिन वो देश हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा यानी एक न एक दिन दुश्मन आके सब कुछ जला डालेगा या तो सब कुछ लूट लेगा या दोनों जो लूटने लायक है वो लूट लेगा और जो लूटने लायक नहीं है वो सब कुछ जला डालेगा लेकिन गुलाम बना देगा गुलाम नहीं तो भिखारी बना देगा पूरे भारत को पूरे देश को और वही काम अमरीका ने किया देखा कि भाई रूस अब कमजोर पड़ चुका है उस समय रूस बिखरा नहीं था नाइनटीन में रूस कमजोर पड़ चुका है इराक की मदद नहीं कर सकता तो उसने पूरा का आधा इराक उसी समय खत्म कर दिया आधा लगभग 25 परसेंट इराक उस समय लूट लिया और 2004 में देखा कि अब सोवियत यूनियन तो पूरा बिखर चुका है रशिया भी एकदम कमजोर पड़ चुका है तो पूरा का पूरा इराक लूट लिया सारे इराकियों को उसने भिखारी बना दिया तो जो देश हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकता उस देश के पास कितनी भी गाड़ियां हो कितने भी मोबाइल हो कितने भी टेलीविजन हो डीवीडी प्लेयर हो LCD टीवी हो, LED टीवी हो, वो सब एक पॉइंट के एक दिन एक-एक चीज निकम्मी साबित होती है, एक-एक चीज है या तो वो लूट ली जाती है या तो जला दी जाती है दुश्मनों के द्वारा और इसलिए अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हथियार जरूरी है तो चलो हथियार इंपोर्ट कर लो गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो वैसे फाइटर प्लेन भी इंपोर्ट कर लो हेलीकॉप्टर भी इंपोर्ट कर लो बफोर्स का गोला भी इंपोर्ट कर लो सब कुछ इंपोर्ट कर लो क्या जरूरत है मैन्युफैक्चर करने की तो जिस हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन दुश्मन उसका किल स्विच एक्टिवेट कर देगा यानी वो हथियार काम ही नहीं करेगा जो बंदूक जैसे सिंपल वेपन्स है उसमें किल स्विच नहीं होती पर जो कॉम्प्लेक्स वेपन होते हैं फाइटर प्लेन है मिसाइल है बॉम्ब है उसमें अमरीका किल स्विच डालता है अमेरिका फ्रांस जो भी देश बेचता है वो किल स्विच डालता है और वो जिस दिन किल स्विच एक्टिवेट कर देगा उस दिन वो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा उस दिन वो मिसाइल काम ही नहीं करेगा तो इंपोर्टेड हथियार हम लेंगे तो जिस दिन अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होगा उस दिन वो काम नहीं आएगा और इराक के साथ ये हुआ था इराक ने रूस से काफी सारे मिसाइल खरीदे थे तो अमरीका ने रूस को धमकाया कि आप इराक की मदद नहीं करोगे और इराक की मदद की तो हम चेचनिया को इतने सारे हथियार देंगे कि चेचनिया के आतंकवादी बड़े पैमाने पर रूस में कत्लेआम करेंगे तो सोवियत यूनियन घबरा गया उसने इराक को कोई मदद नहीं की यहां तक कि स्पेयर पार्ट भेजने भी बंद कर दिए तो स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए उसकी वजह से इराक के बहुत सारे हथियार ऐसे के ऐसे पड़े रहे उसका कुछ युद्ध में उपयोग ही नहीं कर पाया इराक और तो युद्ध के समय यह भी है कि जब युद्ध शुरू होगा तो जिस दुश्मन ने हमें हथियार बेचे हैं वो उसके जो स्पेयर पार्ट है उसकी कीमत सुधी 10, 20, 50, 100 गुनी कर देगा और उस समय जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हमारी इकट्ठी हुई है सारी की सारी बेचने की नौबत आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन आता है कि चलो हम हथियारों का उत्पादन करें तो हम इंजीनियरिंग का उत्पादन मतलब इंजीनियरिंग का विकास सिर्फ हथियारों तक सीमित रखे क्या जरूरत है मोबाइल बनाने की क्या जरूरत है डीवीडी प्लेयर बनाने की टीवी बनाने की गाड़ियां बनाने की सिर्फ हथियारों का उत्पादन करो पर वो भी संभव नहीं है क्यों क्योंकि हथियारों के अंदर जो पार्ट्स जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केमिकल इंजीनियरिंग के वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसके लिए एक एक चीज बनाना या कम से कम उसका बनाने की कैपेबिलिटी होना जरूरी है चीज बनाना जरूरी है या तो कम से कम चीज बनाने की कैपेबिलिटी हो जैसे अमरीका है वो मोबाइल फोन अधिकतर इंपोर्ट करता है मेड इन चाइना होता है कुछ मेड इन ताइवान होता है आईफोन तो अधिकतर आईफोन सारे के सारे आईफोन मेड इन चाइना है मेड इन ताइवान है पर आईफोन मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी उसके पास है जो चिप्स है semiconductor chips most complicated part होता है किसी पीसी के अंदर या किसी फोन के अंदर वो अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है आज भी उसका डिजाइन भी अमेरिका में बनता है और जो सबसे कॉम्प्लीकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग का कारनामा नमूना वो है हथियार वो सारे के सारे अमेरिका खुद मैन्युफैक्चर करता है यानी यदि कॉम्प्लिकेटेड चिप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सिंपल चीज को इंपोर्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब प्रॉब्लम कम है लेकिन भारत की स्थिति क्या है कि हम सिर्फ सिंपल चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हथियारों का यदि मैन्युफैक्चर हमें कंट्री के अंदर शुरू करना है तो हथियारों के जो स्पेयर पार्ट होते हैं हथियारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जाती है हथियारों के अंदर जो चिप्स जाती है वो भी हमें खुद मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी हम यदि बाहर से मंगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें किल स्विच हो पहले तो वो सब वो बनाने की जो स्किल होती है बनाने की जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे इंजीनियर को तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ बड़ी सिविलियन इकोनॉमी है जो कि इस एक्सपीरियंस को क्रिएट करती है जैसे कि हथियार बनाने के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए जिसके पास 10 भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो और रियल एक्सपीरियंस तो ताकि उसको पता चले कि ये सर्किट में ये गलती हो सकती है इस तरह का सर्किट बनाया तो ये गलती हो सकती है अब इस तरह का एक्सपीरियंस उसे कैसे मिलेगा इस तरह का एक्सपीरियंस उसे तब मिलेगा जब उसने ऐसे हमारे पास लाखों की संख्या में ऐसे इंजीनियर है मतलब हमारे पास लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे तब हमें ऐसे दस हजार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे जो कि हथियार बनाने के लायक उनका उनके स्किल हो उतना उनका फोकस माइंड हो और उनका इंटेलेक्ट हो यानी एक लाख हमारे सिविलियन जब सिविलियन इकोनॉमी एक लाख दो लाख इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को प्रोड्यूस करेगी उनको एक्सपीरियंस देगी उनको काम करने का मौका देगी तब कहीं जाके हमारे वेपन इंडस्ट्री को 10-20 हजार अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे यानी सिविलियन इकोनॉमी एक फाउंडेशन क्रिएट करती है पिरामिड का नीचे का बेस और डिफेंस इकोनॉमी जो है वो पिरामिड का ऊपर का ऊपर का पार्ट है मतलब पिरामिड का यदि बेस नहीं होगा तो पिरामिड का टॉप भी नहीं होगा यदि हमें पिरामिड का टॉप चाहिए तो हमें पिरामिड का बेस बनाना पड़ेगा यदि इसका मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हमें हथियार बना सके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए तो हमें पहले पिरामिड का बेस बनाना पड़ेगा और वो बेस क्या है कि एक बड़ी civilian electronics engineering economy civilian electronics industry India में क्रिएट करे तो वो इंडिया में नहीं है आज इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनरी कैलकुलेटर भी देख लो तो वो भी सारा इंपोर्ट होता है कहीं कहीं असेंबल होता है तो उसका अंदर का पूरा पीसी भी इंपोर्ट हो रहा है यहां तक कि आजकल जो पंखे मिल रहे हैं वो पंखे का जो लोहे का हिस्सा है वो इंडिया में बनता होगा लेकिन अंदर की जो मोटर है वो मेड इन चाइना है जो रेगुलेटर है अधिकतर पंखा बहुत सारी कंपनियां रेगुलेटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है वो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो भी मेड इन चाइना है तो समृद्धि को मैं क्यों खोखली कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां जो समृद्धि है उसके पीछे हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है हमारा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस नहीं है हमारे इंजीनियरों की कोई कारीगरी नहीं है उसके पीछे पैसा कहीं से आया और हमने चीजें इंपोर्ट की और हम उसका उपयोग करना शुरू किया वो खोखली क्यों वो क्यों फेटल या जानलेवा साबित होगी क्योंकि हमारे पास हथियार मेड इन इंडिया नहीं है और हम ये कहें कि चलो सिर्फ हथियार भारत में बनाते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें इंपोर्ट होने तो वो मुमकिन नहीं है क्योंकि हथियार है वो टॉप ऑफ पिरामिड है पिरामिड के लिए पहले बेस चाहिए और बेस के लिए हमें ये सारे इलेक्ट्रॉ इक्विपमेंट्स है वो भारत में बनाने पड़ेंगे जैसे सेलफोन है कैलकुलेटर है टीवी कैमरा है कैमकॉर्डर है टेलीविजन है एक बड़ी सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमी जब भारत में शुरू होगी तब हम हथियार बना सके ऐसे इंजीनियर पैदा कर पाएंगे अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि ये प्रॉस्पेरिटी सुपरफिशियल है और सारे इकोनॉमिक्स झूठे हैं मैं नहीं कह रहा इकोनॉमिक्स झूठे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वहां वो क्या सच बात आपसे छिपा रहे वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर सस्टेन कैसे हो रही है हर साल हम गाड़ियां मंगा रहे हैं हर साल हम टेलीविजन इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल इतने वॉशिंग मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर के पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कि कुछ एक एरिया में हमारी कैपेबिलिटी है कौन से सॉफ्टवेयर एनिमेशन डेटा एंट्री फिर ये मेडिकल टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म में बाहर अस्पतालें बहुत महंगी है हमारे यहाँ अस्पतालें सस्ती है इसलिए बाहर से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं तो ये इंजीनियरिंग का एक एरिया है जिसमें हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है सॉफ्टवेयर दूसरा है डिजाइन डिजाइन में हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है डिजाइन चिप डिजाइन से लेके फर्नीचर डिजाइन आजकल बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां फर्नीचर भी इंडिया में डिजाइन करती है काइड कैम से जरिए बहुत सारी चीजों का डिजाइन इंडिया में होता है डिजाइन कैपेबिलिटी हमारे यहाँ है पर वो डिजाइन कैपेबिलिटी विदाउट बिना इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी के हथियार बनाने के काम नहीं आएगी डिजाइन कैपेबिलिटी है लेकिन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है यानी हथियार हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और हथियार हम डिजाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि हथियार डिजाइन करने के लिए जो नॉलेज है वो नॉलेज अमेरिका ने हमको नहीं दिया अमेरिका ने कौन कौन से डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भेजे जैसे कुछ एनिमेशन के भेजे हैं तो हम पूरा एनिमेटेड मूवी भारत में आज बना सकते हैं उतनी कैपेबिलिटी तीन चार साल में भारत में आ जाएगी कि हम 300 जैसे मूवी पूरे भारत में बना सके पर तब तक मैं टेक्नोलॉजी और आगे निकल गई पर वो भी छोड़ो चलो हम मूवी पर हम मोबाइल फोन नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए जो भारत में नहीं है तो जो सॉफ्ट स्किल्स है सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री फिर डिजाइन स्किल्स एनिमेशन इस तरह की एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडिया ने अच्छी खासी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है तो उसके एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है वो एक पैसा है दूसरा बड़े पैमाने पे प्राकृतिक संसाधनों का एक्सपोर्ट होता है और वो कभी-कभी उस पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का लेबल लगा दिया जाता है जैसे बेलारी में जो रेडी ब्रदर्स है वो बड़े पैमाने पे लोहे का एक्सपोर्ट करते थे चाइना को अब लोहे का एक्सपोर्ट करोगे कागज पे लिखा कि भाई मैंने लोहे का एक्सपोर्ट करोगे तो तो पहले गवर्नमेंट पकड़ लेगी कि भाई इतना सारा लोहे का माइनिंग करने का हमने तुमको परमिशन नहीं दी थी इतना माइनिंग क्यों किया फिर दूसरा उस पर इनकम टैक्स भरो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भरो इसलिए वो क्या करते थे कि लोहे का एक्सपोर्ट करते थे आयन और का और दिखाते थे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया उनकी किसी कंपनियों की दोस्तों की कंपनियों से और वहां से पैसा आता था तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया तो ना एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी है ना इनकम टैक्स भरना है तो हमारा बहुत सारा सो कॉल्ड इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो हकीकत में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट है कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं लोहा एक्सपोर्ट करते हैं एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ लोगों के अनुसार कुछ लोगों के अनुसार बड़े पैमाने पर भारत में से थोरियम की चोरी हो रही है आज की तारीख में भी हो रही है अब फिर हम बड़े पैमाने पे जमीन बेच रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों को दूसरी कंपनियों को बड़े पैमाने पे भारत सरकार और भारत के प्राइवेट लोग भी जमीन बेच रहे हैं तो जमीन बेचते हैं उसका पैसा आता है चौथा कंपोनेंट है ट्रांसफर पेमेंट का ट्रांसफर पेमेंट यानी कि भारत का लेबर जो कि सऊदी अरेबिया में काम करता है केरल का तमिलनाडु का कुछ कुछ वो अरबों रुपया भिजवाता है भारत के जो इंजीनियर अमेरिका में ब्रिटेन में नौकरी कर रहे हैं वो कुछ नहीं तो भारत में घर खरीदते हैं जब उनके पास अमेरिका में ब्रिटेन में पैसा आ जाता है तो तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्स का एक्सपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेस में और भी चीजें आ गई जैसे मछलियां बड़े पैमाने पर हम मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं मैंने सुना है मतलब बहुत सारे हर तरह हर, हर तरह की मछलियां वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स हुआ फिर फूड प्रोडक्ट्स जैसे बासमती चावल से लेके मीट एक्सपोर्ट होता है कानूनी गैर कानूनी जैसे गाय का मीट है वो बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी एक्सपोर्ट होता है भैंस का मीट है वो कानूनी एक्सपोर्ट होता है फिर चिकन बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है तो इस तरह से पर ये भी लो टेक्निकल आइटम है natural resources directly natural resource नहीं हुआ पर वेरी क्लोज टू नेचर इसमें कोई इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है भैंस को खाना खिलाया भैंस ने मीट पैदा किया वो मीट बेच दिया तो कोई इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं हुई इसमें तो नेचुरल रिसोर्स या तो क्लोज टू नेचर इस तरह का हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है माइंस और ये लोहे की लो, आयरन और, और ये ये सारी चीजें जो मैंने की तो ये चार चीजों से और फिर हम लोन ले रहे हैं विदेशी कंपनियों से या विदेशी सरकारों से हमारे पर 300 बिलियन डॉलर का डेट हो गया है सरकार पे तो इस तरह से ये कंपोनेंट हुआ दूसरी विदेशी कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट करती है इन्वेस्टमेंट कब किया तब बड़े पैमाने पे जमीन खरीदती है तो मैंने जो जमीन की बात की वो ऑलरेडी उसमें आ गया तो इस तरह से जो विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है या विदेशी कंपनियां जमीन खरीद रही है या तो एनआरआई है वो घर खरीदते हैं या ट्रांसफर पेमेंट करते हैं और हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करते हैं और एक इंजीनियरिंग गुड सॉफ्टवेयर उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक तरह से हमारी जेन्यून कैपेबिलिटी है बस पर वो एक ही है बाकी फिर और भी है जैसे कि विदेशी कंपनियां यहां आती है मैन्युफैक्चर करती है और फिर उसके पार्ट्स बेचती है पर वो जो पूरी डिजाइन है वो विदेशी कंपनी लाए हैं यहाँ पे जैसे फोर्ड मोटर मैंने सुना है कि कुछ कुछ पार्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है पर वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जो मशीन है जो कि पार्ट को मैन्युफैक्चर करता है वो फोर्ड का प्रोपराइटर ही है जिस दिन वो फोर्ड भारत से ले जाना चाहे ले जा सकते हैं तो ये सारी चीजें जिससे हमें डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर की वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है दूसरा भी है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी थोड़ी ओवर एस्टिमेटेड है ओवर एस्टिमेटेड यानी कि मोबाइल फोन हम कहते हैं कि 50 करोड़ लोगों के पास है है उसमें कोई डाउट नहीं है पर वो क्यों है क्योंकि चीन वाले ये मोबाइल हजार पंद्रह सौ दो हजार में बना रहे इसलिए है पर बाकी कुछ स्टेटिस्टिक्स देखो तो तो आपको दिखेगा कि हमारा देश है वो एक चाइना से तो बहुत पीछे है एशिया के करीब अधिकतर देशों से बहुत पीछे हैं पर अफ्रीका के देशों से भी काफी पीछे हैं जैसे कि पर 1000 गाड़ियां कितनी हैं पर 1000 स्कूटर कितने हैं पर 1000 हमारा रेसिडेंशियल स्क्वायर फीट एरिया कितना है तो उस चीजों में हम काफी पीछे हैं तो इस तरह से एक तरह से हमारी प्रोस्पेरिटी है वो ओवर एस्टिमेटेड भी है वो ओवर एस्टिमेटेड क्यों हो गई है क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखते हैं मैं एक सवाल बहुत सारे लोगों को पूछता हूं कि भाई भारत में कितने ऐसे 20 साल के लड़के होंगे कि जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है फिर वो पास हो गए फेल हो गए बात की बात पर कम से कम उन्होंने ट्वेल्थ क्लास का एग्जाम दिया है ऐसे कितने लोग होंगे तो मेरे पड़ोस में मेरे दोस्तों में मेरे रिश्तेदारों में जब ये सवाल मैं पूछता हूं तो वो मुझे आंसर देते हैं भाई कम से कम 80-90 परसेंट लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया हो फिर भले वो पास हुए या फेल हुए जबकि भारत का आंकड़ा ये क्या है पूरे भारत का आंकड़ा निकाला जाए तो 20 परसेंट से कम 20-22 परसेंट से कम 80 परसेंट लोग वो 12 क्लास तक पहुंच ही नहीं सकते पहुंच ही नहीं पाते तो क्यों मेरे आसपास के लोग और आस लोग मुझे 80-85 परसेंट नाइन्टी परसेंट बोलते हैं क्योंकि वो अपने आसपास के लोग देखते हैं और उनके आसपास के लोग में अधिकतर समृद्ध लोग होते हैं तो उनमें रेशियो होगा 95 परसेंट हंड्रेड परसेंट तो वो थोड़ा दस परसेंट कम करके बोल देते हैं नाइन्टी परसेंट जबकि उनको उनके कितने दोस्त हैं जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हो या तो झोपड़पट्टी में रहते हो शायद जीरो इसलिए उनको अंदाजा नहीं है कि भाई वहां पे प्रॉस्पेरिटी कितनी कम है तो कुछ कुछ चीजें बहुत सस्ती हो गई टीवी सस्ता हो गया डीवीडी प्लेयर सस्ता हो गया मोबाइल सस्ता हो गया एसी सस्ता हो गया इसलिए वो हर एक आदमी के घर पहुंच गया लेकिन जो चीजें महंगी थी और सबसे महंगी चीज हथियार आता है वो तो अपने आप में एक है ही कि वहां पे तो हम खोखले क्या एकदम खोखले हैं यदि हम हथियारों की दिशा में देखें तो पर बाकी चीजों में थोड़ा ओवर एस्टिमेशन हो गया और इसलिए यह है अब इसका उपाय क्या है कि हम कैसे अपनी समृद्धि को मजबूत समृद्धि बना सकते हैं तो हथियारों का उत्पादन पर हम हथियारों का उत्पादन कैसे करें उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी सिविलियन इकोनॉमी चाहिए जो कि हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाती हो हर एक चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बनती हो कि गाड़ी जो कि 100% इंडिया में बनती हो ऐसा नहीं कि पार्ट सारे मेड इन और मेड आउटसाइड है जैसे टाटा नैनो का एग्जांपल मैं देता हूं जो कि most made in India car है by cost 70% made in India by cost है पर उसके आप विकीपीडिया पे पेज देख लो तो उसके जो पार्ट्स है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट गियर बॉक्स है ट्रांसमिशन है उसके सिलेंडर है वो सब इंपोर्टेड है तो वो सारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो वो क्या हो सकता है तो वो मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है मेरी किताब में, मैं भी मैंने chapter 20 improving engineering skills in India वो मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 26 ये बुक आपको मिलेगी Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M पर और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत में अदालतें सुधारना अदालतें कैसे सुधार सकते हैं कोई भी सोसाइटी हो भारत हो रशिया हो अमेरिका हो चीन हो वहां हर एक आदमी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेगा हर एक आदमी यानी सौ में से तीस चालीस पचास साठ लोग ऐसे होंगे कि जो खुद आगे आए ना आए दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करेंगे और जो बड़ा आदमी होगा वो भी ये कोशिश करेगा कि 100-200 छोटे आदमियों की टांग खींचने की कोशिश करे 10-20 बड़े आदमी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि उनके जो 100-200 300 छोटे कॉम्पिटिटर है सबकी टांग खींच के उनको धोबी पछाड़ दो सही तरीके से गलत तरीके से हर तरीके से तो किस तरह से उनके सही तरीके चलते रहे लेकिन गलत तरीके ना फेल हो जाए तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें खड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए मैं आपको मैंने जूरी सिस्टम प्रपोज किया है कि अदालतों में यदि जूरी सिस्टम नहीं हुआ तो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को गलत तरीके से पछाड़ देगी सही तरीके से पछाड़े तब तक देश का नुकसान नहीं है लेकिन वो गलत तरीके से पछाड़ने में कामयाब हो जाएगी यदि जस्ट सिस्टम हुआ तो उसका उपाय है ज्यूरी सिस्टम वो मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो मैं समराइज करूंगा कि हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो काफी हद तक खोखली है हम सिर्फ आधुनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं आधुनिक चीजें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही उसका परिणाम क्या हो सकता है क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ हथियार मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे उसका परिणाम क्या हो आएगा कि जो देश हथियार मैन्युफैक्चर नहीं करता उसकी सारू समृद्धि विदेशी देश या तो आके लूट लेता है या तो आके जला देता है जैसे अमेरिका ने इराक को लूट लिया और इराक को चला दिया गुलाम बना दिया और बाद में उस देश का धर्म भी खत्म हो जाता है जिस देश के पास असली प्रॉस्पेरिटी नहीं होती उस देश का धर्म भी नहीं टिकता जैसे कि अमेरिका ने मारपीट के कुछ 15 परसेंट इराकियों को 20 परसेंट इराकियों को क्रिश्चियन बना डाला है भूखे भूखे हैं दवाइयां नहीं मिल रही क्या करेंगे अब लीबिया की बारी है इरिया ने लीबिया को खत्म कर दिया पूरा लूटा नहीं है पर करीब करीब खत्म कर दिया अब वहां पे भी ईसाई धर्म का प्रचार दिन ब दिन बढ़ रहा है माली माली को लूट लिया माली पे फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर हमला किया वहां पे सोने की माइंस है और इस तरह से वो समृद्ध है वहां पे समृद्धि नहीं है लेकिन वहां सोने की माइंस बहुत है तो अभी जो सोने का रेट ऊपर गया उसकी वजह से वहां पे सोना इकोनॉमिकली वायबल हुआ तो माली ने यूरोप की चीन की अमेरिका की कंपनियों को बोला कि भाई तुम आग पे माइनिंग करो और कितना पैसा हमको दोगे रॉयल्टी वगैरह तो चीन ने सबसे ज्यादा ऑफर दिया तो माली ने बड़े पैमाने पे चीन की कंपनियों को इनवाइट किया क्योंकि चीन की कंपनियां ज्यादा रॉयल्टी देने को तैयार थी तो फ्रांस ने वहां पे एयरफोर्स से हमला करके सारे जो चीन के एस्टेब्लिशमेंट है वो तोड़ दिए और वहां पे चीन की सेना ने फ्रांस की सेना ने अब वहां माली में कब्जा कर लिया वहां पे नाम दिया इस्लामिक आतंकवाद वो तो कोई ना कोई तो लेबल लगा नहीं पड़ेगा तो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे वहां पे फ्रांस अपनी सेना लेके घुस गया हजारों माली के वहां पे लोकल से उनको मार डाला और वहां पे अब फ्रांस की माइनिंग कंपनियां सोना निकाल रही है फिर तो हथियार नहीं है तो वो देश को विदेशी लूट लेते हैं या तबाह कर लेते हैं या तो तब तक बचा के रखेंगे जब तक कि उनको जरूरत है जैसे कि भारत को अमेरिका तब तक नहीं खत्म करेगा क्योंकि उसको भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए लेकिन जिस दिन चीन खत्म हो गया उसके दूसरे दिन वो पूरा भारत को तबाह कर देगा जैसे इराक को उसने 1990 तक नहीं लूटा क्योंकि रशिया रूस सोवियत यूनियन बहुत शक्तिशाली था और उसने देखा कि वो इराक पे हमला किया तो सोवियत यूनियन इराक की मदद करने आएगा तो वो इराक में लड़ नहीं पाएगा लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन कमजोर हुआ अमेरिका ने 25 परसेंट इराक लूट लिया 50-60 परसेंट खत्म कर दिया और 2004 में उसने 100 परसेंट इराक खत्म कर दिया 100 परसेंट इराक लूट लिया तो हम यदि ये ऑप्शन चाहे कि सिर्फ हम हथियारों का उत्पादन करते हैं मोबाइल मोबाइल बनाने की जरूरत नहीं वो सब इंपोर्ट करो सिर्फ हथियारों का उत्पादन करो वो भी संभव नहीं है हथियारों का उत्पादन करने के लिए हमें दस हजार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए पर इतने कुशल इंजीनियर चाहिए कि हमारे कंट्री में 10 लाख इंजीनियर हो तब उनमें से 1 परसेंट हथियार बनाने के जितनी कैपेबल होगा तो 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमारा कंट्री कब सपोर्ट करता है जब बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ मोबाइल का टीवी का डीवीडी प्लेयर का मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो कैसे संभव है मैंने बहुत सारे कानून यहाँ पे डिस्क्राइब किए जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यूरी सिस्टम फिर आता है राइट टू रिकॉल और टीसीपी धन्यवाद